आंखों से पीना देखो भाई दो पीने होते हैं एक तो पीता है इंसान मुंह से शराब पीता है क्या कैसे पीता है लेकिन अल्लाह की मोहब्बत की शराब जो है वो मुंह से नहीं पी जाती वो आँखों से पी जाती है कैसे पी जाती है हाँ रसूलुल्लाह वसल्लम ने अपने आँखों से सहाबा को अल्लाह की मोहब्बत पिलाई थी हाँ, लिहाजा जब तक बुज़ुर्गों की सोहबत में नहीं रहेगा बुज़ुर्गों की नज़र नहीं पड़ेगी इसलिए साहबा ने फरमाया नज़र की बड़ी अहमियत है फरमाया हजूर एक जिसने मुझे देख लिया दो नहीं जाएगा रवा तिरमिजी तिरमिजी ने रिवायत किया कल मैं मजमून भूल गया अर्ज करने के लिए हजूर ने फरमाया कि जिसने मुझे देखा वो दो नहीं जाएगा साहब इकराम कहते थे अल्लाह के रसूल आपका देखना हमें अपनी जान से और अपने माल से अपनी इज्जत और आबरू से सबसे ज़्यादा प्यारा सारी चीज़ हम कुर्बान कर सकते हैं आपके देखने पर देखना कितनी बड़ी चीज़ है क्यों नबी के देखने से उनका ईमान ताज़ा होता था और नबी जब देखते थे तो साहबी रसूल बन जाते थे तो क्या है असल दीन जो है आँखों से आता है इसी को किसी शायर ने कहा है मैं कशो ये मैं कशी रिंदी है मैं कशी नहीं मैं कशो ये मैं कशी रिंदी है मैं कशी नहीं आँखों से तुमने पी नहीं आँखों की तुमने पी नहीं जिस दिन आँखों के पी लोगे उस दिन अल्लाह की मोहब्बत में सरशार हो जाओ मैं कशो ये मैं कशी रिंदी है मैं कशी नहीं आँखों से तुमने पी नहीं आँखों की तुमने पी नहीं इर्शाद फरमाया आँखों से पीना आंखों की पीना बगैर सोहबत के मैसर नहीं हो सकता शेख की सोहबत में रहेगा फिर आंखों की पिएगा असल दौलत तभी मिलती है जब आंखों से पीता है मालूम है बुज़ुर्गों के सोहबत के बगैर मकसूद तक पहुंचना मुश्किल है जिक्र कर ले मैं थोड़ी देर का क्या क्या बातें हमारे हजरत फरमा के चले एक बलफूज पे भी अमल हो जाए तो